और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों को बुरा भला कहने में लगे हुए हैं तो उनसे उस वक्त तक के लिए अलग हो जाओ जब तक वो किसी और बात में मशगूल ना हो जाएं और अगर कभी शैतान तुम्हें यह बात भुला दे तो याद आने के बाद जालिम लोगों के साथ न बैठो